उनके प्रभुओं समय में भूत हंतो तो इदम प्रवक्ष्यामी गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा तो मरणम प्राप्यो आत्मा भवती गौतम योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः कर्मानुसंजंती यथा कर्म यथा श्रुतम जो ये तो सुप्ते सुजागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन लोकाश्रुता सर्वे तदु नात्येति कश्चन वही तत् मनुष्य के इस इंद्रिय गम्य जीवन काल में दो चीज दिखाई पड़ते हैं एक प्राण और एक अपान प्राण अपान क्या होता है इसको आप अगर स्पष्ट करना चाहें तो एक बीज आप धरती में डालते हैं तो उसमें से एक तो जड़ निकलती है जो नीचे जाती है और एक अंकुर निकलता है जो ऊपर आता है क्यों जी बीज तो एक ही है उसकी दो दिशा में गति क्यों होती है उस बीज में भी प्राण अपान है बोला बिना चांद्री शक्ति और सौरी शक्ति माने चंद्रमा की शक्ति और सूर्य की शक्ति प्राण और रई अग्नि और सोम उपनिषद में इसका वेद में ऐसे वर्णन आता है अग्नि और सोम एक अग्नि शक्ति है गरा और एक सोम शक्ति है शीतल ठंडी एक ऋण है एक दान है ऐसा समझो एक प्राण है एक रई है जितनी क्रिया प्रतिक्रिया सृष्टि में देखने में आती है उसमें ये दोनों शक्ति होती है तो अच्छा अब ये आप बताओ कि आम जो पैदा होता है आम या अंगूर बराम का मतलब नहीं है आम अंगूर अनार नीम करेला उसमें पंचभूत का नाम करेला है, हैं? कि उसकी जो सकल सूरत है उसका नाम करेला है सकल सूरत तो मिट्टी की भी बना कर रख देते हैं प्लास्टिक की भी बना देते हैं तो सकल सूरत का नाम कले, करेला नहीं है आम नहीं है अंगूर नहीं है और पंचभूत तो सब में समान रहते हैं उसका भी नाम नहीं है कई कई ऐसे होते हैं बीज जिनकी जड़ जाती है ऊपर और अंकुर नीचे जाता है ऐसे भी होते हैं बीज और किसी किसी में बीज अंकुर का पता भी नहीं चलता है कि जो आकाश बवर होती है ना आकाशवल्ली पीली पीली ये पेड़ ही पर एक से दूसरी एक से दूसरी है फैल जाती है और आपस में लगी हुई नहीं होती है धरती में खाना पीना नहीं लेती है वो पौधे पर ही अपना भोजन ले लेते हैं तो एक बीज है आप देखो बीज वो नाम रूप से न्यारा है न उसमें करेले का फल दिखता है न करेले का तना दिखता है करेले के नाम से भी न्यारा और करेले के रूप से भी न्यारा आम के रूप से भी न्यारा नाम से भी न्यारा स्वाद से भी न्यारा बोला गुण से भी न्यारा स्वभाव से भी न्यारा एक आम का बीज होता है तो एक आदमी कहेगा कि आम का जन्म नहीं होता क्यों वो तो पंचभूत मात्र ही है मिट्टी पानी आग हवा छोड़ करके उसमें और क्या है और एक आदमी कहेगा कि केवल नाम रूप ही है उसमें क्या है लेकिन आपको ये देखने में आता है कि नहीं कि उसमें एक बीज है वो बीज में से निकला है और अंकुर का कारण है और उस अंकुर में से एक बीज निकलेगा और फिर दूसरे अंकुर का कारण होगा वो न तत्व है वो तत्व नहीं है बीज जो है जो पंचभूत से जुदा नहीं है इसलिए तो तत्व तो नहीं है उसका समूचा वजन पंचभूत ही है और जो अंगूर से न्यारा है आम आम से न्यारा है अंगूर इसलिए अपनी विशेषता को भी रखता है तो विशेषवती जो सत्ता है विशेषवत जो पंचभूत है विशेष से युक्त भेद से युक्त संस्कार से युक्त जो पंचभूत है उसको आम बोलेंगे ना तो आम जड़ का नाम है कि आम तने का नाम है तो नहीं ना आम जड़ का नाम है ना आम तने का नाम है अंगूर का भी नाम आम नहीं है और जो उसकी जड़ें जाती हैं पानी पीने के लिए नीचे उसका नाम भी आम नहीं है उसमें जो आम के बीज के संस्कार से युक्त जितना पंचभूत का अंश है उसका नाम आम है अब आप जरा जीव की तरफ ध्यान दीजिए बोला कहो कि ये नाम रूप पहले भी था और बाद में भी रहेगा तो मनुष्य का ये नाम रूप पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा कहो कि इसमें जो सच्चिदानंद है अस्थि भाती प्रिय है ना तो वो बदलेगा तो वो बदलता नहीं वो एक रस ही रहता है जैसे करेले से आम को न्यारा आम से करेलो करेले को न्यारा आम करेले से अंगूर को न्यारा करने वाली कोई चीज होती है कोई बीज संस्कार होता है वैसे जो संस्कार विशेष से युक्त जो सच्चिदानंद है उसको जीव कहते हैं सच्चिदानंद में जन्म मरण नहीं है वो सच्चिदानंद का न जन्म होता है न मृत्यु होते हैं और जो नाम रूप है वो तो तत्व ही नहीं है तो उसके जन्म मरण का कोई सवाल ही नहीं है ये जो बीजवत्ता है ना इसी को इसी को जड़ता की प्रधानता से बीज बोलते हैं और चेतनता की प्रधानता से जीव बोलते हैं जीव उलट दिया अक्षर को उलट दिया जीव है बीज है संस्कृत भाषा में गवयोर भेदा जीव में वह है और बीज में वह है ये ब और व अक्षर में तो भेद है एक अंतस्थ है व व जो है ना वो अंतस्थ है और ब औष्ठ है व को होश से बोला जाता है ब और व को भीतर से बोला जाता है ब बाहरी है बाह्य में ब है बोला और वेद में व है वो अंतस्थ है अंतस्था ऊपू पद्मानियाना ओष्ठ ये अक्षर का विचार हुआ परंतु है ये जीव चैतन्य की प्रधानता जहाँ साफ दिखती है उसको जीव बोलते हैं और जहाँ चैतन्य की प्रधानता स्पष्ट नहीं दिखती है जड़ की प्रधानता दिखती है उसको बीज बोलते हैं परंतु है दोनों विशेष विशेष माने खास खास संस्कार से युक्त हर स्त्री पुरुष में खास खास तरह के संस्कार होते हैं और हर पेड़ पौधे में खास खास तरह के संस्कार होते हैं यही संस्कार की परंपरा न जाने कब से चली आ रही है और न जाने कब तक चलती रहेगी ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी में होते हैं बोला ये कीड़ा मकोड़ा जीव जोनी सब इसी में होते हैं तो अब एक तर्क ये उठा कि क्या अंकुर और जड़ ये दोनों यदि जड़ निकाल दे किसी चीज की तो अंकुर सूख जाता है और अंकुर काट दे तो जड़ निकम्मी हो जाती है दोनों तरह के पेड़ होते हैं कोई होते हैं ऊपर से अंकुर काट दो तो जड़ में से फिर से पेड़ निकल जाता है और कोई ऐसे होते हैं कि ऊपर से काट दो तो फिर निकलता ही नहीं है एक ही बार निकलता है तो ये जो मनुष्य है इसमें बीज है तो वो बीज का मां में से निकला तो बीज क्या पिता में से निकला पिता तो एक नाम रूप है केवल खोली है भौकनी है भौकनी का नाम माँ का शरीर है और भौकनी का नाम पिता का शरीर है उसमें धातु में से बीज निकलता है है ना तो अमुक प्रकार का अन्न अमुक प्रकार का जल अमुक प्रकार का वातावरण अमुक प्रकार का मनोभाव इनके सबके मिलने से इनके सबके मिलने से बीज युक्त बीज से शरीर की शरीर रूप अंकुर की है ना निष्कृति होती है बीज बीज ये शरीर अंकुर है और इसमें जो अमुक संस्कार से युक्त बीज है तो अब ये कहते हैं कि प्राण और अपान उसी के आश्रित है तो जीव किसको बोलते हैं क्या प्राण अपान का ध्वंस हो जाने पर जीव भी मर जाता है श्यान मतम प्राणापाना व्यपगमा देव इदम विध्वस्तम भवती ये उपक्रमणिका है मंत्र की वो का है शंकर भगवान कहते हैं कि क्या अपान वायु नीचे निकल गई और प्राण वायु ऊपर निकल गया बोले कि आदमी मर गया तो क्या वो जीव मर गया क्या आप एक चने का दाना देखते हैं उसमें न जड़ निकली हुई है और न उसमें पौधा निकला हुआ है तो क्या उसका बीजक तो मर गया बिना अंकुर और बिना जड़ के भी दाने में बीज बना बना रहता है इसी प्रकार प्राण के बिना भी और अपान के बिना भी जीव में जीवत्व तो बना रहता है उसको तो आग में जलाओगे तब उसका बीजक हो जाएगा क्योंकि जड़ता की प्रधानता है और चैतन्य में चैतन्य में जो बीज पना है माने संस्कार वत्ता है वो जड़ता में तो संस्कार वत्ता चिपकी हुई है इसलिए आग से जलाने पर वो निवृत्त हो गई पर जीव में जो संस्कार वत्ता है वे स्वीकृत वो स्वीकृति पूर्वक है स्वीकृति पूर्वक है भ्रांति पूर्वक है जब तुम ये चाहते हो कि हम ऐसे बने और ये हो गए ये वासना जब तुम्हारे अंदर बनी हुई है तो संस्कार बना हुआ है कि नहीं है? बोले हम तो ऐसे चैतन्य हैं स्वस्थ निर्मल उज्जवल जिसमें संस्कार का लेश ही नहीं है न पहले था न अब है न आगे होगा है हम संस्कार से विनिर्मुक्त सच्चिदानंद घर हम आवागमन से रहित सच्चिदानंद घर है हम जन्म मृत्यु से रहित सच्चिदानंद घर है हम क्रिया भावना गुण स्वभाव प्रकृति और इनको स्वीकृति देने वाली अविद्या इससे मुक्त सच्चिदानंद गण है जब अपने आप को इस प्रकार जानोगे तब इस संस्कार अवस्था से छुटकारा मिलेगा और नहीं तो जैसे ये जन्म तुम्हारा हुआ है अभी तुम मौत को डरते हो कि नहीं सवाल ये है कि मौत को डरते हो कि नहीं बोले देखो सत्ता की तो मौत होती नहीं तुम क्यों डरते हो हैं? मौत होगी जलेगी तो मिट्टी थोड़ी जलेगी उतरा होकर रहेगी खाली बीज का संस्कार ही तो जलेगा ना तो जिस संस्कार के कारण तुम अपने को जन्मा हुआ मनुष्य मानते हो और जिस संस्कार के कारण आगे अमुक अमुक चीजें चाहते हो वो जब तक तुम्हारे अंदर जुड़े रहेंगे तब तक तुम जीव भाव से मुक्त कैसे होगे? शास्त्र का कहना इस संबंध में बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम यह है बोला हम वो सब बात जानते हैं वो नेति नेति वाली जो बात है ना वो सब जानते हैं है ना कहो ईश्वर किसान के खिलाफ अभी ऐसी दस बात कहें है ना और वेद की शान के खिलाफ हम ऐसा बोले कि आप कहोगे कि ऐसी गाली और ईश्वर और वेद के लिए तो हमने कभी सुनी नहीं थी हम वो सुना सकते हैं और बिल्कुल शास्त्र से प्रमाणित करके लेकिन वो ब्रह्म दृष्टि से है बोला जब तक तुम ये कहते हो कि हमारी ये जाति है हमारा ये वर्ण है हमारा ये आश्रम है हम ये मनुष्य हैं हमको ये ये चाहिए है ये ये भोग चाहिए है वासना के विवश होकर अपने को वासना से विवश मान करके और उसके साथ इधर उधर दौड़ रहे हो तुम हाँ, तुमने अपने मैं को वासना और संस्कार से मुक्त रूप में और मुक्त रूप में भी परिच्छिन्न नहीं ब्रह्म रूप में और ब्रह्म रूप में भी केवल परोक्ष कल्पित ब्रह्म रूप में नहीं साक्षात अपरोक्ष अद्वितीय ब्रह्म रूप में जब तक तुमने अपने को नहीं जाना है तब तक इस संस्कारवत्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती भले वो अविद्यक है परंतु वो अविद्या भी जब तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अविद्यावान हूँ और अविद्या है नहीं तुमको लग नहीं सकती लेकिन जब चुड़ैल किसको लगती है, है? जो चुड़ैल की सत्ता को मानता है और हमें लग सकती है ऐसा मानता है जब तक तुम अविद्या का अस्तित्व स्वीकार करते हो मैं ब्रह्म को नहीं जानता मैं अद्वितीय को नहीं जानता मैं अपने को दृष्टा को जानता हूँ लेकिन दृश्य भी मैं ही हूँ ये मुझे मालूम नहीं है तो दृश्य बाधित है मैं ब्रह्म हूँ तो ये मालूम नहीं है तो जब तक तुम अपने में मालूम नहीं है अज्ञान स्वीकार कर रहे हो हैं, तब तक अज्ञान तुमको लगेगा और जब अज्ञान लगेगा तो तुमको संस्कारवान बना के जैसे अब तुम जन्म मरण अब तुम जन्म मरण में कैसे पड़े अब जन्म में पड़े हो कि नहीं अब मरण में पड़े हो कि नहीं सनातन धर्म की व्याख्या समझो इसी को बोलते हैं यथा प्रज्ञम ही संभवा श्रुति कहती है श्रुति कहती है यथा प्रज्ञम ही संभवा संभवा प्रजा संभव माने प्रजा हो संभवंती यदि संभवा प्रजा प्रजायंते संभवंती इसी संभवा प्रजा ये प्रजा जन्म लोगों का कैसा होता है तो अपनी अक्कल से होता है जब तुम अपनी अक्कल से अपने को परिच्छिन्न मान रहे हो अपने को संस्कार वाला मान रहे हो अपने को चाह वाला मान रहे हो है? हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए संसार को तुमने खुद कीमत दे रखी है तब तक तुम्हारी प्रज्ञा के अनुसार जन्म होगा भले चने में प्राण अपान न दिखे परंतु वो जुड़े रहते हैं उसके साथ जसमिन नेतऊ उपाश्रित और जब प्राण अपान रहेंगे तो किसी में अपान की प्रधानता होती है किसी में प्राण की बोला ये क्या है अपान की प्रधानता जिसमें होगी वो नरक में जाएगा और प्राण की प्रधानता जिसमें होगी वो स्वर्ग में जाएगा ऊपर उठाने वाला प्राण है और नीचे ले जाने वाला अपान है और जीव शब्द का अर्थ है प्राण अपान को धारण करने वाला तो प्राण अपान को भारत जीव प्राण धारण धातु संस्कृत भाषा में व्याकरण में जीव शब्द जीव जिस धातु से बनता है ना जीवती इस जीव धातु से जीव शब्द बनता है ना उसका अर्थ होता है प्राण धारण प्राण धारण माने धांसनी का चलना हार्ट चलना है ना उसको बंद होके भी चलने की शक्ति रहना बंद होने पर भी चलने की शक्ति रहना प्राण धारण प्राण धारण माने जीव अब जीव कैसे प्राण धारण करता है एक मैंने आपको रोज रोज तो आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात सुनते हैं ना थोड़ी जीव की भी सुनिए और अपने को उससे मुक्त समझने की कोशिश कीजिए प्राण धारण का क्या अर्थ है यदि आप उन्नति चाहते हैं या अवनति से डरते हैं या जिन कर्मों से अवनति होती है उनका कर्ता अपने को मानते हैं और जिन कर्मों से उन्नति होती है उन कर्मों का कर्ता अपने को मानते हैं है? तो जब आप अवनति से डरते हैं तब अपान आपके साथ है और यदि आप उन्नति चाहते हैं तो प्राण आपके साथ है क्योंकि उन्नति उन्नति होती है प्राण से और अवनति होती है अपान से तो तब तक आप जन्म मरण वाला अपने आप को मानते हैं कब तक जो उन्नति आप चाहते हैं वो यदि इस जीवन में न मिली तो उस उन्नति की वासना कहाँ जाएगी आपको मालूम है आपके पड़ोसी के घर में जाएगी आपके दुश्मन को वो मिलेगी और जिस अवनति से आप डरते हैं उसको प्राप्त कराने वाला यदि कर्म करेंगे तो वो अवनति क्या आपके दुश्मन के घर जाएगी आपके घर नहीं आवेगी आपने स्वयं उन्नति और अवनति की इच्छा रूप प्राणापान को अपने साथ जोड़ रखा है है ना और जब आपने खुद जोड़ रखा है तो दूसरा कोई उसको काट देगा तो वो आपके साथ साथ रहेगी तो न प्राणे नो ना नो न प्राणे नो ना नो मर्त्यो जीवती कष्टना हे मनुष्य तुम केवल प्राण और अपान से केवल नीचे जाने वाली और ऊपर जाने वाली वायु से ये क्रिया है वायु में हो क्रिया क्यों बीज में जा करके एक वायु नीचे को जाती है और एक ऊपर को जाती है क्यों जीव के साथ रह करके अपान वायु नीचे को जाती है शरीर में और प्राण वायु ऊपर को जाती है ये उन्नति और अवनति की ये प्राण और रई की दो क्रियाएं ये अग्नि और सोम की दो क्रियाएं जो शरीर में प्रत्यक्ष देखने में आती हैं इस इच्छा के साथ इस क्रिया के साथ इस बल के साथ आपका संबंध है कि नहीं है तो इतरे न तो जीवंती बोले मनुष्य का जन्म कैसे होता है वो बताया प्रज्ञा और कर्म श्रुति में श्रुति में बताया है कि बुद्धि और कर्म इसके अनुसार ही ये जन्म हुआ है और इसके अनुसार ही आगे भी जन्म होगा तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल महाराज उतना फेर देते हैं हमारे हमारे एक बड़े महात्मा हैं बड़े प्रसिद्ध हैं और अच्छे वेदांत के अच्छे जानकार हैं आप सुनोगे आपको जरा जो वैज्ञानिक तर्क युक्ति दे और मशीन से जो आत्मा को सिद्ध करे उसकी बात सुनने के ज्यादा आदि हो गए हैं ना है ना जो तर्क वितर्क ज्यादा बोले और विज्ञान से और मशीन से आत्मा को सिद्ध करे उसकी बात सुनने के ज्यादा आदि हो गए हैं हमारे महात्मा वो कहते हैं कि जो जन्म और मृत्यु माने आवागमन नहीं मानता है उसको हम वेदांत का उपदेश ही नहीं करेंगे क्योंकि वो जिज्ञासु नहीं है जन्म के पहले हम थे और मृत्यु के बाद हम रहेंगे यदि तुम्हें जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं होना है स्वर्ग नरक के भय से मुक्त नहीं होना है, है? तो तुम हमारे पास तत्वमसी सुनने के लिए क्यों आते हो मतलब एक बड़े पुराने अनुभवी वेदांत के अनुभवी महात्मा है बोले हम मानते ही नहीं तो तो मानते नहीं पर इंग्लैंड को मानते हो ना न्यूयॉर्क को मानते हो ना है ना राष्ट्रपति को मानते हो ना ऊंची कुर्सी तो मानते हो कि नहीं ज्यादा पैसा मानते हो कि नहीं मन एवं मनुष्य से पूर्व रूपाणी समसते भविष्यत राजेंद्र तथा च न भविष्यता इस समय जो मनुष्य का मन है उससे दो बात सिद्ध होती है एक तो ये कहाँ से आया है और एक कहा जाएगा मन एव मनुष्य पूर्व रूपाणी संसती तो अगर कोयला के घर में से कोई आवेगा तो उसके कपड़े में कोयला लगा रहेगा कि नहीं है? और कहा जाना चाहता है अरे भाई भले आप से मिलने जाता होगा तो भली पोशाक में तो होगा ना है? तो मन की पोशाक कैसी है अच्छी है कि बुरी है वो वासना वासित है हल्की वासना है कि गाढ़ी वासना है तो वर्तमान मल से ये सिद्ध होता है कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा भविष्य राजेन्द्र पूर्व रूपाणी संसति और भविष्य मनुष्य रूपाणी संसति क्या होगा मालूम पड़ता है तथा से न भविष्यता कि ये जीवन मुक्त हो जाएगा इस जीवन में कि नहीं बोले वर्तमान मन से पता लग जाएगा तुम वासना पूरी करके सुखी होना चाहते हो कि वासना मिटा के सुखी होना चाहते हो हमारे मन के मुताबिक हो जाए तब हम सुखी होंगे ये तुम्हारा ख्याल है कि हमारे मन का संकल्प मिट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे ये तुम्हारा ख्याल है, है? बोले संकल्प पूरा करके सुखी होने का अगर ख्याल है तो अभी संसार के प्रवाह में बहने की तुम्हारी रुचि है और यदि संकल्प को मिटाकर जीवन मुक्त होने का ख्याल सुखी होने का ख्याल है तो तुम जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हो हाँ अनेक अनेक वासना जाल से समावृत जो मन है वो जीवन मुक्ति का पूर्व रूप नहीं है अच्छा ये बात तो हुई मन की इतरे न तो जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रित हाँ। ये प्राण और अपान तो मिल के काम करते हैं ये तो ऐसे ही जैसे दो हड्डी जोड़ दी गई दो हवा जोड़ दी गई क्रिया है ना इसमें क्रिया है तो जब दो क्रिया हो रही है एक पीछे हटने की एक आगे बढ़ने की तो उस क्रिया के मूल में कोई चीज है एक नीचे जाने की क्रिया हो रही एक ऊपर जाने की क्रिया हो रही तो मध्य बामन मासीनम बीच में ये बामन है जरूर हाँ। उसी के आधार पर बोले प्राण और अपान नष्ट हो जाएंगे तो जीवन का नाश हो जाएगा बोले कैसे प्राण अपान मिल गए और तुम पैदा हो गए और कैसे प्राण अपान बिखर जाएंगे तो तुम मर जाओगे इसके बारे में तुमको कुछ जानकारी है तो जिसकी आश्रित प्राण अपान है जिस चने में हाँ, जड़ उगने की शक्ति है और अंकुर निकलने की शक्ति है उसमें बीज विद्यमान है जिस जीव में अधोगमन की क्रिया शक्ति है और ऊर्धगमन की क्रिया शक्ति है और उस क्रिया शक्ति को प्रेरित करने वाली वासना है और उस वासना को मैं मेरी और सच्ची समझाने वाली अविद्या है भ्रांति है, है? तो उसको तो महाराज वो भ्रांति वाला वही तो जीव है तो उसको ढूंढो कि वो जीव कौन है अंत तो इदम प्रवक्ष्यामी गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्यो आत्मा भवती गौतम जो निमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थावमन्ये नुसञ्जन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृत मुख्यते अच्छा ये नरक स्वर्ग का निरूपण करने के लिए ये प्रकरण नहीं है बोला ये तुम बारंबार जन्मते हो मरते हो ये बात तुम्हारे मन में बैठाने के लिए नहीं है ये जो बैठी हुई है इसको काटने का साधन बताने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है बोला ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण ये है कि जहाँ जहाँ तुम्हारे मन में कमजोरी है उसको ढूंढ के है ना उसके पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का विचार करके उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है ये बात हमको बताना है तो ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि ये जीवात्मा जो है ये पापी है है ना कई लोगों को ये आदत पड़ जाती है वो पापी ये अपने को पापी समझते हैं दूसरे को पापी समझते हैं एक नंबर है ना ऐसे लोग हैं हम भी पापी तुम भी पापी दूसरे ऐसे होते हैं कि तुम सब तो पापी हो लेकिन मैं पापी नहीं हूं इसको बोलेंगे अभिमानी पहला जो है ना कि हम भी पापी तुम भी पापी वो तो अपना अभिमान भी खो बैठा है पामर है पामर का ख्याल ये है कि हम पापी तुम पापी और अभिमानी का ख्याल ये है कि तुम पापी हम पापी नहीं है ना और साधक का ख्याल ये है कि तुम पापी नहीं हो तुम सब अच्छे हो लेकिन मैं अभी पाप में पड़ा हुआ हूँ वहाँ से छूटना चाहता हूँ ये साधक का ख्याल है जो दूसरे को पापी देखता है वो तो साधक नहीं है वो या तो विषयी है और या तो पामर है अब देखो सिद्ध पुरुष कैसा हुआ तो सिद्ध पुरुष हुआ कि न तुम पापी न हम पापी तो कौन पापी ईश्वर पापी बोले ना ना पाप का अस्तित्व ही नहीं है पुण्य का अस्तित्व ही नहीं है कर्म का अस्तित्व ही नहीं है हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म है ना और हम का अर्थ तुम और तुम का अर्थ हम हम और तुम दोनों अलग अलग नहीं अब देखो ब्रह्म में न हम न तुम तो आप देखो कि आपकी मनोवृत्ति कहाँ टिकती है तो आजकल सब पापी हो गए हैं रहे भाई हम भी तो ऐसे ही हैं वाह धन्य हो वो धरती पर न शयाना पटक से भा दूसरा भी धरती पर लेता हुआ है नंगा तुम भी धरती पर लेते हुए हो नंगे हाँ। बोले दूसरे सब पापी और हम बढ़िया बोले के अंदर हो गए हो बिल्कुल अभिमान से सब पापी हो जाएंगे तो तुम अच्छे कहां से रहोगे बोले भाई सब अच्छे और हम बिगड़े बोले हाँ सुधारने के लिए तुम्हारा ये ख्याल अच्छा है, है? लेकिन जैसे सब में अच्छाई है वैसे तुम्हारे अंदर भी एक अच्छाई है उसको पकड़ नहीं पाते हो असल में तो सब में एक ईश्वर है एक परमात्मा है एक ब्रह्म है है ना उसको पकड़ो हंत तो एकदम प्रवक्षा है अहो एक बार कहने से तुम नहीं समझते हो दो बार कहने से नहीं समझते हो तीन बार नहीं कहने से नहीं समझते हो तो आओ आओ हम फिर तुम्हें समझावे अंत पुनः पुनः अजीब सा तो हम तो इदानीम पुनरअपि से शुभ्यम हम गुज्यम गोप्यम ब्रह्म कौन सा ब्रह्म का तो जो गोपनीय ब्रह्म है जो न बीज है न जीव है बोला जिसमें न जीवत्व है न बीजत्व है है ना न संस्कार वस्तु है न अविद्या वस्तु है देखो एक अविद्यावान का एक खास लक्षण होता था जब छूटना होगा अच्छा ये रूमाल है ना तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है कहो कि ये तो जड़ है तो अज्ञान है जिसमें ज्ञान न हो तो ज्ञान ये तो जड़ है तो बोले कि भाई अच्छा ये जड़ रूमाल ये ज्ञान रूमाल किसकी बोले मेरी तो तुम कौन हुए अज्ञानी है ना अज्ञान हुई रूमाल और तुम हुए अज्ञानी जड़ी जैसे धन है ना तुम्हारे पास नोट का एक बंडल हो तो क्या है वो नोट बिचारा ज्ञान है कि अज्ञान है जब जानता है कि उसका मालिक कौन है तो नहीं जानता <coughs> है तो वो तो है अज्ञान ज्ञान रहित और तुमने कहा कि नोट मेरा तो तुमने ये कहा कि अज्ञान मेरा इसलिए ज्ञानी हो गए जो जड़ और दृश्य वस्तु को जो दृश्य और जड़ वस्तु को मेरी समझता है वो अज्ञानी जो मैं समझता है वो अज्ञानी है ना और अपने अतिरिक्त जो उसको सत्य समझता है तो अज्ञानी जैसे धन का मालिक धनी होता है वैसे अज्ञान का मालिक अज्ञानी होता है ज्ञान और क्या होता है ये दुनिया में दुनिया को मैं समझना अज्ञान है दुनिया को मेरा समझना का ज्ञान है दृश्य को जड़ को और इसको सच्चा समझना ज्ञान है तुम्हारे साहस के सामने अज्ञान है और हंत का इदम प्रवक्ष्यामी आओ आओ हंस का अर्थ है कृपाविष्ट होकर के दयाविष्ट होकर के हाय हाय है ना इतना समझाने पर भी तुम नहीं समझते हो लो तुम्हें फिर मैं प्रवचन करके प्रवक्ष्यामी प्रवक्षा प्रवक्षा माने प्रवचनम करिष्यामी प्रवचन करके मैं तुम्हें समझाता हूँ युक्ति और तर्क से समझाता हूँ अपौरुषे जो अनुभव है उससे तुम्हें समझ समझाता हूँ क्या समझाते हो अरे यही जो है ना जिसमें जीवत्व और बीजत्व और संस्कारवत्व और विशेषवत्व है ना और अविद्यावत्व जिसमें भाग रहा है इदमेव गुज्यम ब्रह्म सनातनम विज्ञातन चेत यदि तुमने जान लिया तो इसी मय पद के शुद्ध अर्थ का नाम गुज्य सनातन ब्रह्म है गोप यानी गोपनीय है अधिकारी विशेष को जो बताने का अभिप्राय है ना उसी को गोपनीय बोलते हैं असल में गुप्त वस्तु को जानने की बड़ी इच्छा होती है लोगों के मन में तो एक आदमी ने आज कल हमसे कहा कि वेदांत की बात सुनते सुनते तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है अच्छा। अब हम नाम उसका नहीं बताएंगे आप लोग सोचने लगेंगे कि किसने बताया होगा गुप्त बात को गुप्त बात को जानने की इच्छा होती है आप सोचने लगोगे कि आखिर इतने में से किसने कहा होगा एक ने कहा हाँ, कि हम तो बच्चे हैं हमारी समझ में तो क्या आएगा हमारे बाप आते हैं कथा सुनने उनकी समझ में भी नहीं आता तो सोचो उस बच्चे को ढूंढने लग जाए यहाँ तो थोड़ी मिलेगा लेकिन रुचि होगी कि हम उसको जाने तो ये ब्रह्म की गोपनीयता क्या है है ना हाँ, छिपने का स्थान बिल्कुल जहा ढूंढने वाला ढूंढने वाले का ध्यान जहां न जाए वो छिपने का स्थान होता है आपको क्या है हम लोग जब बचपन में आंख मिचौनी खेलते थे तो आंख मिचौनी के खेल में जरा सा कहीं डुबक गए डुबक गए और ढूंढने वाले जब ढूंढते हुए दूर निकल जाते थे ना तो जहां से उठ के छिपे थे है? वहीं जाके बैठ जाते थे अब ढूंढने वालों को तो ख्याल ही नहीं होता था कि जहां से पहले हम लोग बातचीत करते थे है ना वही खड़े होंगे यही ब्रह्म का की गोपनीयता यही है <coughs> ब्रह्म की गोपनीयता यही है अच्छा आपको अपनी आंख दिखाई पड़ती है बोले जी शीशे में देखते हैं हमारी आंख क्या सुंदर है अरे शीशे में देखते हो ना वो तो आंख की परछाई देखती है अपनी आंख की पुतली तुमने खुद देखी है कि नहीं बोले नहीं देखी है लेकिन है कि नहीं है इसमें कोई शंका है तुमको है भगवान अगर आपको अपनी आंख की पुतली होने में शंका हो तो भगवान ही रक्षा करें आंख की पुतली है और उसी से सब दिखता है ये है ना परंतु वो खुद दिखती नहीं है यही दृष्टा का स्वरूप यही है बोला दृष्टा का स्वरूप यही है जैसे नेत्र की पुतली का गोलक ये आख है ऐसे दृष्टा का गोलक हृदय है बोला वो हृदय रूपी आख में पुतली की तरह रह करके सबको तो देख रहा है लेकिन वो पुतली कहती है वो पुतली सूर्य है ये अभी नहीं होगा माने बड़ा प्रकाशमान सर्वाभाषक है तो नहीं नहीं वो अधिदैव नहीं है वो सूर्य नहीं है है ना वो तो चिदाकाश है चिदाकाश है माने अनंत है ब्रह्म है वो तुम्हारे जैसे आंख के गोलक से देखने की शक्ति परिच्छिन्न नहीं है ये शायद अभी तक ये बात सब तक पहुंची हो कि नहीं पहुंची हो है ना ये जो देखने की शक्ति है ना ये सारे शरीर में व्याप्त रहती है वो आजकल वैज्ञानिक लोग ये खोज कर रहे हैं कि अगर हम हाथ में ऑपरेशन करें और अमुक अमुक युक्ति करें तो ये देखने वाली पुतली जो है शक्ति जो है वो हाथ में बन सकती है कि नहीं वो पाव में बन सकती है कि नहीं क्योंकि वो देखने वाली जो ज्योति है ना वो तो सारे खून में दौड़ती रहती है केवल आंख में नहीं रहती है वो तो उसके जाहिर होने का एक स्थान है समझो कि रक्त में से वायु में से शक्ति में से है ना ज्ञान की एक ऐसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे आंख में आके वो देखती है नाक में आके सुनती है और आ, कान में आके ये बल्बों का भेद है बिजली का भेद नहीं है बिजली एक ही दौड़ती है वैसे एक ही आत्मा संपूर्ण विश्व सृष्टि में है और जहाँ उसको हृदय मिलता है ना है वहाँ से वो देखने लग जाता है तो देखने वाला हृदय से परिच्छिन्न नहीं होता है हाँ। सारे शरीर में आंख है उसके जाहिर होने का गोलक आंख है अब देखो आंख को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि आंख से तो देखते हैं तो आंख देखी कैसे जाए है? इसी प्रकार हम दृष्टा को देख नहीं पाते हैं परंतु दृष्टा से ही सबको देखते हैं और दृष्टा का जो ब्रह्मपना है सो तो दृष्टा नहीं देख सकता दृष्टा देख ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मपना कभी देखा नहीं जाता कब तब दृष्टा का जो दृश्य के साथ एकता का भ्रम है वो मिटाया जाता है नीति नीति के द्वारा हाँ, तो तुम दृश्य नहीं हो तुम दृश्य नहीं हो तुम दृश्य नहीं हो दृश्य मात्र का निषेध कर देने पर तुम दृश्य नहीं हो तुम काल नहीं हो तुम वस्तु नहीं हो तुम ये परिच्छिन्न उपाधि नहीं हो अरे बाबा तब है क्या तो वेद ने कहा कि अरे तेरे सिवाय तो और कोई है ही नहीं तो अद्वितीय है है ना है क्या किसी से अलग होता तब न क्या का सवाल होगा कि हम इससे अलग किताब से अलग होके हम क्या है जब तेरे सिवाय कोई दूसरा है नहीं है तो उस दूसरे की अपेक्षा तो तुमने विशेषता बताई जाएगी कि और सब दृश्य है और तुम दृष्टा हो है? और यहाँ तो तुम्हारे सिवाय कुछ है ही नहीं तो विशेषता बताने की क्या जरूरत है ना तो श्रोति कहती है कि तुम ब्रह्म हो तो गोपनीयता क्या है गुजम क्या है जहां से हम ढूंढने के लिए निकलते हैं है ना ढूंढने के लिए जो निकलता है सोई ब्रह्म है जो ढूंढा जाता है सो नहीं अदृश्यम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री वो दृश्य से विलक्षण होकर के दृष्टा है दृश्य नहीं है दृष्टा है वो सुना नहीं जाता वो सुनता है मैंने इतना आत्मा है वो मनन किया नहीं जाता अमतम मंत्री वो मनन किया नहीं जाता उसका इसीलिए जोर दिमाग पर नहीं करना चाहिए इसलिए दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए ब्रह्मचिंतन करने में क्यों तो वो मनन का विषय नहीं है वो तो स्वयं है अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री वो विज्ञात नहीं है विज्ञाता है माने विज्ञाता का जो पारमार्थिक रूप है वो परिच्छिन्न नहीं है ब्रह्म है वो प्रकाश नहीं है स्वयं प्रकाश है है ना वो द्वित द्वय नहीं है द्वित नहीं है अद्वय है हाँ। तो गुजिया गुजन पुराणों में कथा आती है आपने सुना होगा पुराणों में एक कथा आती है कि हिरण्य कश्यपू को नृसिंह भगवान ने मार दिया तो प्रहलाद तो उनके भक्त हो गए तो प्रहलाद जब भक्त हो गए तो विरोचन जब उनके पैदा हुए प्रहलाद के विरोचन हुए ऋषियों ने विरोचन को समझाया कि प्रहलाद ने हमारे वंश के विपरीत आचरण किया है वो तो क्रांतिकारी हो गए प्रगतिशील हो गए उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया लेकिन तुम बेटा विरोचन तुम्हारे बाप ने जो काम नहीं किया तो तुम करके बताओ विरोचन ने कहा क्या करें कि जिसने तुम्हारे दादा को मारा उसको तुम मारो ये पुराणों में कथा आती है हो विरोचन हाँ, को घेर करके दैत्यों ने समझाया कि तुम्हारे बाप ने तो अपने बाप को मारने वाले से बदला नहीं लिया लेकिन बेटा तुम बदला लो तो विरोचन डर गया डर गया तो लोगों ने समझाया कि नहीं तुम्हारे पक्ष में एक बड़ी प्रबल युक्ति है वो क्या है कि नृसिंह ने वरदान दिया है कि प्रहलाद जो तुम्हारे वंश में पैदा होगा उसको मैं मारूंगा नहीं तो तुम अबद्ध हो तुम अबद्ध हो तुमको तो नृसिंह भगवान मारेंगे ही नहीं और तुम उनको मार डालो अब महाराज विरोचन ने उठाया अपना शस्त्र अब तो भगवान डर गए कि इसको तो हम मार नहीं सकते और ये हमको बहुत सताएगा तो भगवान ने सोचा कि कब तो भागे कभी स्वर्ग में जाए कभी वैकुंठ में जाए गुरु से लगा लेके पीछा करे जहाँ जाए भगवान वहाँ दृश्य हो है ना वहाँ भोग्य हो जाए जो भोग्य होता है जो सुख देने वाला होता है वो दुख देने वाला भी हो जाता है बोला तो ये तो बदलता रहता है तो जब कहीं जगह नहीं मिली भगवान को कि शांति से बैठे छिपे तब उन्होंने ध्यान किया कि आखिर हमारी शांति भंग हो गई कि हम हैं तो बोले कि अच्छा आप छिप जाएंगे तुम ढूंढे मिलेंगे ही नहीं तो विरोचन की आत्मा में जाके नारायण बैठ गए और वो विवेचन सारी दुनिया में तो नारायण को ढूंढे और अपने में ढूंढे नहीं इसलिए नारायण मिले नहीं है तो अब नारायण का विक्षेप तो मिट गया लेकिन ढूंढने का विक्षेप विरोचन को मिल गया है ना अगर देखो विरोचन कौन है जिसको विषय भोग में रुचि है ना विषय है दृश्य में जिसको रुचि है विरोचन हाँ रोचन है हाँ हमको ये भी चाहिए ऐसा तो हमारे बगीचा चाहिए ऐसा फूल चाहिए ऐसा फल चाहिए ऐसा मकान चाहिए है ना ऐसा भोग चाहिए वो गुरोचन हो गया गुरोचन गुरोचन हो गया अब गुरोचन ढूंढता रहा और गुरोचन की आत्मा नारायण ढूंढे मिले नहीं, नहीं उसने कहा चलो डर के कहीं भाग गया है ना तब उसने फिर यज्ञ किया है ना यज्ञ किया अरे अब तो जीत लेंगे सारी सृष्टि को तो देवता लोगों ने कहा कि ये विरोचन अगर यज्ञ कर लेगा तो अगर भगवान तो इसको मार ही नहीं सकते तो फिर तो ये हम लोगों को बहुत सतावेगा तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए बोले कि विरोचन अब तो ईश्वर भी तुझसे डर के भाग गया तेरे जैसा शक्तिशाली और कुछ नहीं है हम तेरे भक्त हैं तेरे प्रशंसक हैं कुछ हमको दान तो कर तो दुर्योचन ने कहा कि वाह हम जो को पहले तो हम लोग उन्होंने बताया कि पहले तो हम जिससे जो मांगते थे तो मिलता था हमको अब तू भी दे दे तो दुर्योचन ने कहा वाह जो कहो तो दे दे हम क्या नहीं दे सकते हम मर तो सकते ही नहीं अजर है हमारा है तो बोले कि अच्छा ये शरीर तू अपना हमको दे दे तो दो ब्राह्मणों के प्रति शरीर का उसने दान कर दिया जब शरीर का दान कर दिया तो ब्राह्मणों ने फिर काबू में कर लिया इसी विरोचन के पुत्र बलि हुए हो बलि ये पुराण की कथा आपको सुनाई तो पुराण की कथा इसलिए सुनाई कि भगवान कहाँ छिपे हैं अब आप लोग तो सब है ना जिज्ञासु हैं कोई है ना बड़े विद्वान है वेद शास्त्र उपनिषद के तार को जानते हैं आप लोगों को विरोचन कहने में तो संकोच होता है है ना है ना लेकिन नारायण कहाँ छिपे हैं है? इतना तो कम से कम समझने की बात है म्यूजियम जो तुम्हारा गुज्जत स्थान है मरमत स्थान है है ना ये ईश्वर तुम्हारे मर्मत स्थान में छिपा हुआ है गुज्जत स्थान में और वो कैसा है बोले सनातना वो काल से कभी कटता नहीं जागृत स्वप्न सुसुप्ति सृष्टि स्थिति प्रलय किसी में कल कटता नहीं हो सनातना सदा के लिए ही सना शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है बोला सदा के लिए सदा के लिए सनातनम हाँ। सनातन सदा भव सनातना जो हमेशा रहे उसको सनातन कहते हैं जिस समय तुम पापी होते हो ना उस समय भी तुम्हारी आत्मा को छोड़ करके ब्रह्म कहीं जाता नहीं है जिस समय तुम पुण्यात्मा होते हो उस समय भी तुम्हारी आत्मा को छोड़कर ब्रह्म कहीं तुम्हारी आत्मा से ब्रह्म अलग हो ही नहीं सकता न कभी अलग हुआ न कभी अलग होगा न अलग है ये सनातन सत्य है बोले सनातन सत्य है तभी ब्रह्म कहीं होगा है ना कभी आंख में आता होगा कभी कान में आता होगा कभी स्त्री में जाता होगा कभी पुत्र में जाता होगा है ना ब्रह्मचारी लोग तो ब्रह्म को अपने शरीर में रखते हैं पर गृहस्थ लोग तो अपने बच्चों में भेज देते हैं हैं? और दानव प्रस्थ लोग जो है नारायण कहते हैं कि जो गया सो गया आप जो बचा है उसको बचाओ <laughs> तो चाहिए कोई कोई ब्रह्म को शरीर में रोक रहा है कोई बाहर भेज रहा है कोई बचा रहा है नारायण ये क्या है बोले ब्रह्म इसमें आना जाना नहीं है ब्रह्म माने परिपूर्ण बृहत्वात ब्रह्म ये देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ये जो चार दिशा और चार कोण और ऊपर नीचे दिशा विदिशा ये जो मालूम पड़ती है ना बाहर हैं इनके ओर छोर को पकड़ने की कोशिश करो तो आंख से तो पकड़ा जाएगा नहीं बुद्धि से जब पकड़ने की कोशिश करोगे तो कल्पित होगा है? तो ये ऊपर ऊपर भी ऊपर का जो छोर होगा वो बुद्धि से कल्पित होगा और नीचे जो नीचे का छोर होगा तो भी बुद्धि से कल्पित होगा आंख से तो नहीं मिलेगा ना है? तो ये ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने पीछे कोने में है ना चारों तरफ जो कल्पित छोर है उस छोर के भीतर तो दिशा है है ना वो जिस छोर छोर रहित अनंत में कल्पित है है ना और आदि और अंत नारायण काल का आदि और काल का अंत आप कभी आंख से देख सकते हैं कैसा बुद्धि से आदि और अंत देख सकते हैं कल्पित कर सकते हैं केवल कल्पना है ना तो वो जो आदि और अंत की कल्पना है ना उस आदि से भी परे कल्पित आदि से भी परे और कल्पित अंत से भी परे जो है उसको अविनाशी बोलते हैं परे वो उसी में ये आदि अंत कल्पित है उसी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप और नीचे कल्पित है काल की कल, कल्पित काल का अधिष्ठान इसको आप थोड़ा और स्पष्टता से दीजिए आपकी कल्पना में जो काल की आदि और काल का अंत या काल की अनादि और काल की अनंतता है ए? उसका तो अधिष्ठान और आपके हृदय में उस कल्पित काल की जो कल्पना है उसका भी अधिष्ठान एक ही है दो नहीं है और उस कल्पित काल और देश का अधिष्ठान अधिष्ठान प्रकाशक और यहाँ उस कल्पना का भी प्रकाशक वो तो जो कल्पित काल है कल्पित देश है कल्पित वस्तु है उसका अधिष्ठान और प्रकाशक जो है उसको शास्त्र में ईश्वर बोलते हैं और जो कल्पना है ना काल की देश की वस्तु की जो कल्पना है उसके प्रकाशक को आत्मा बोलते हैं बोला उसके अधिष्ठान को आत्मा बोलते हैं माने कल्पित जो काल देश वस्तु की अनादिता अनंतता उसके अधिष्ठान और प्रकाशक को ईश्वर नाम देते हैं कल्पित रूप से और उस कल्पना के प्रकाशक और अधिष्ठान को आत्मा नाम देते हैं कल्पित रूप से है ना और ये आत्मा और ब्रह्म दो कल्पित नाम हैं, ये दो कल्पित वस्तु हैं, असल में एक ही तत्व एक ही तत्व है